उसका ज्ञान न होने के कारण दुखी है उसके लिए प्रीति न होने के कारण जीव परेशान है उस आत्मा परमात्मा के ऊपर दो प्रकार के आवरण होते हैं जैसे सूर्य पर बादलों का आवरण होता है तो सूर्य होते हुए भी नहीं दिखता बैटरी के सेल ऊपर सील का आवरण होता है तो सेल होते हुए भी टॉर्च जलती नहीं क्योंकि सील है सेल पर ऐसे ही अपने आत्मा परमात्मा चैतन्य पर दो प्रकार के आवरण है एक अस्वापादक आवरण दूसरा अभाना पादक आवरण अस्त्वापादक आवरण ईश्वर है कि नहीं है पता ही नहीं लेकिन जो सत्संग करते हैं कुछ सुनते हैं और वह ईश्वर ही हमारा आत्मा होकर बैठा है ऐसा ज्ञान पाते हैं तो उनका अस्त्वापादक आवरण तो हट जाता है लेकिन भान नहीं हो रहा है मानते तो है लेकिन भान नहीं हो रहा है अनुभव नहीं हो रहा है भान नहीं हो रहा है उसको बोलते अभाना पादा का आवरण तो अस्तवापादा का आवरण सामान्य आदमी को जो संसार में सतबुद्धि करके अपने को खपा रहे हैं उन अल्पमति के लोगों को का आवरण होता है और साधक को होता है अभाना पादक आवरण भान नहीं होता जिस परमेश्वर का अनुभव करना उसका भान नहीं होता उसे बोलते अभाना पादक आवरण ये दो आवरण हट जाए तो जैसे चंद्रमा ठीक दिखता है बादल हटने से सूर्य ठीक दिखता है हमारी आंख खुल जाए बादल हट जाए हमारी आंख खुल जाए बादल हट जाए तो सूरज दिखेगा चंद्रमा दिखेगा ऐसे ही चित्त की दो अवस्था होती है एक ब्रह्म भाव वो पहले पढ़ा ना चित्त के दो चित्त के दो भाव होते हैं एक जगत भाव और दूसरा ब्रह्म भाव जगत भाव से चित्त राग को द्वेष को देह को मैं मानता है और कर्म के बंधन में फंसता है और ब्रह्म भाव से चित्त ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है तो ब्रह्म भाव और जगत भाव हम्म चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध चित्त बोध हो बोध कहो भाव को एक चित्त बोध है एक ब्रह्म बोध चित्त बोध तो सबके पास है ये गुलाब है ये फलाना है ये फलाना है फलाना है ये चित्त बोध है दूसरा होता है ब्रह्म बोध चित्त बोध संसार के चित्त का रहता है सत्ता तो उसी की लेता है परमात्मा की लेकिन चेतता है संसार को तो उसी में खप जाता है चित्त बोध और ब्रह्म बोध उसी की सत्ता लेके उसी को पाता हाँ पढ़ो एक चित्त एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध चित्त बोध जगत है और ब्रह्म बोध मोक्ष है चित्त बोध अहंता का नाम है जब तक चित्त बोध फूरता है तब तक संसार है और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है तरफ फूरती है वृत्ति मना ख्याल उसको सुरता भी बोलते हैं उसको संबित भी बोलते हैं उसको फूरना भी बोलते हैं उसको वृत्ति भी बोलते हैं उसको विचार भी बोलते हैं तो एक वृत्ति जगत की और पूर्ति आंख से जुड़ी देखा कान से जुड़ी सुना नाक से जुड़ी सुंघा जीव से जुड़ी चखा मन से जुड़ी वृत्ति संकल्प विकल्प किया बुद्धि से वृत्ति जुड़ी निश्चय किया ये हो गया जगत इसमें तो लाखों लोग भटकते बिचारे जो उत्तम प्रकार के साधक हैं उनकी वृत्ति गुरु कृपा से साधन से पुरुषार्थ से ब्रह्म की ओर फुरती है फिर देखा तो सही देखेगा वो भी खाएगा वो भी देखा ठीक है माया है संकल्प है पूर्ण है देखा ये बड़ा सर ये हाल है लेकिन हाल हमारे संकल्प का पूर्ण है पूर्णा दिखा नहीं पूर्णा साकार हुआ तो ये हाल दिख गया पूर्णा विचार तो छोटा दिखता है लेकिन उसका परिणाम बड़ा दिखता है वो परिणाम बड़ा दिखता है फिर भी परिणाम बड़ा नहीं है परिणाम पैदा करने वाला बड़ा है नृत्य नर्तक से बड़ा नहीं हो सकता है गीत गायक से बड़ा नहीं हो सकता है कविता कवि से बड़ी नहीं हो सकती लेकिन कवि की कविताएं हाँ, उसका पिक्चर देखो तो लंबा चौड़ा हो जाता है कभी कालिदास के दूसरे तो एक वृत्ति जगत के तरफ होती है दूसरी वृत्ति ब्रह्म के तरफ होती है एक शिष्य ने गुरु को कहा गुरु जी आप अगर कृपा कर दें तो मेरा कल्याण हो जाए मुझे मुक्ति का अनुभव हो जाए शिष्य प्यारा था अधिकारी था सेवाभावी था सदाचारी था भगवान की पाने की तड़फ थी ईमानदार था जो कुछ मन में आता गुरु से निवेदित कर देता गुरु ने देखा कि छोकरे की वृत्ति अभी तो जगत में है जगत की वृत्ति हटाने के लिए इसको प्रैक्टिकल अनुभव करे ऐसा उपदेश दे गुरु योगी थे ध्यान करके देखा कि नदी में दो पक्षी आए सारस सारसी कभी कभार आते हैं वो जाओ बेटा नदी पे बैठो जाओ उधर क्या देखता हो क्या विचार आता है वो मेरे को बताना गया नदी पे अरे इतने बढ़िया सुंदर पक्षी वाह इनको पकड़ के ले जाएं पिंजरे में रखें पालें अपने बना लेते तो कितना अच्छा लेकिन वो सारा सारा सिर्फ जैसे मोर दिखता है तो पकड़ने थोड़ी पकड़ना संभव थोड़ी एक आध आदमी का तो उड़ जाएगा सारा साहसिक उड़ गए गुरु ने पूछा क्या विचार है बोले उनको वैसे ऐसे उनको देखा और उनको पकड़ के रखे मजा आया अच्छा कुछ समय बीता साधन भजन कुछ हुआ बुद्धि सूक्ष्म हुई गुरु ने कहा जाओ फिर घूमो उधर देखो कुछ मिलेगा अब के जो पक्षी दिखे उनको पकड़ने की इच्छा तो नहीं हुई लेकिन मन में ये आया कि हम जब भी आए ये मेरे सामने आए कितने अच्छे लगते हैं जब भी आए तब मेरे सामने आए हाँ। कुछ समय के बाद गुरु ने कहा फिर जाओ फिर वो दिखे अभी पकड़ने की भी इच्छा नहीं हुई सामने आए उनको बंधन में बांधने की भी इच्छा नहीं हुई कि जब हम आए तब ये मिले अब हुई कि हम भी ऐसे बन के इनके साथ उड़े तो कैसा मजा मजा से माज मजा से माझा गुरु ने कहा बेटा अभी तत्व ज्ञान सुनो तत्व ज्ञान सुना कि दिखता अलग अलग है लेकिन दिखता दिखने का साधन अलग अलग है जिसकी सत्ता से दिखता है वो एक है और जो दिखता है उसमें और देखने वाले में मूल रूप से भेद ही नहीं है वृत्ति जगत के तरफ थी तीन चार बार अब गुरु ने ज्ञान दिया वृत्ति ब्रह्म के तरफ आ गई मोरिस समझता है हा? और सूक्ष्म बात है कि भले अभी कठिन लगेगी इसको पचा लिया तो बड़ा कल्याण हो जाता है दस साल हरिओम हरिओम करे तभी भी ये ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा अब की बार गया तो पक्षी दिखे उनको पकड़ने की भी इच्छा नहीं हुई जब हम आए तब ये आए ऐसी भी इच्छा नहीं हुई इनके साथ उड़ने की भी इच्छा नहीं हुई अब पता चला कि पक्षियों पक्षियों के रूप में भी मेरा ही चैतन्य है और यहां साधक के रूप में भी मेरा ही चैतन्य है चिड़िया और उनके किल्होल में भी मेरा ही चैतन्य है आह मैं ही मैं हूं और वृत्ति तो पूरी लेकिन अब वो जगताकार नहीं है ब्रह्माकार है अब सब में सॉल्व सौल को परमात्मा को चित्त निष्फुर हो गया सब मैं हूं अपने से कोई दूर चीज होती है तो उसको पाने की इच्छा होती है अपने से कोई अलग चीज है तो उससे हटने की इच्छा होती है दुख अलग है तो हटाना पड़ता है सुख अलग है तो पाना पड़ता है तो अपने से कोई अलग चीज है तो उसको पाने या हटाने का मजदूरी करना पड़ता है अपने आत्मा को पाना और हटाना क्या मैं कपड़ा हटा सकता हूं लेकिन अपने आप को क्या हटाऊंगा कपड़ा को मिठाई को पा सकता हूं अपने आप को क्या पाना सदा है तो सर्वत्र जो अपना आप दिखने ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाए तो फिर वो चित्त जगत बोध में जगत में होते हुए भी ब्रह्म बोध में चला जाएगा और ब्रह्मबोध में चला गया था बड़ी शांति बड़ा आनंद सारी साधनाएं वहां पूरी हो गई ब्रह्मबोध में चित चला है, है जैसे खिलौने अलग अलग होते शक्कर एक की एक गहने अनेक अनेक सोना एक का एक मिट्टी अनेक अनेक मिट्टी के बर्तन अनेक अनेक मिट्टी एक एक ऐसी चित्त में विचार और जगत का आकर्षण अनेक लेकिन उसका आधार एक का एक उस एक के एक आधार को जो जान लेता है उसे जगत बोध जगत में होते हुए ब्रह्म बोध हो जाता है अब थोड़ा ये सुना ब्रह्म बोध का शांति मिली फिर चले जाएंगे जगत में मेरा तेरा आया फिर हटा दिया ब्रह्म बोध में आए तो इसमें जितनी प्रीति होती जितनी सावधानी होती उतना ही जल्दी परमात्मा का अनुभव होता है और सारे पाप सारे आकर्षण सारी बुराइयां खत्म हो जाती नहीं तो कुछ भी करो कुछ न कुछ बुराई रहेगी कुछ न कुछ पाप रहेगा कुछ न कुछ आकर्षण रहेगा कुछ न कुछ विकर्षण रहेगा कुछ न कुछ बंधन रहेगा चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जाए जहां लगी आत्म तत्व चीनियो नहीं त्या लगी साधना सर्व झूठी कितना भी साधन किया धन कमाने का साधन भी झूठा सत्ता पाने का साधन भी झूठा रिद्धि सिद्धि पाया अंत में वो खत्म किया आखिर झूठा हो गया इसीलिए ये सब करते करते आत्मज्ञान पाने की तरफ चलना चाहिए वो आदमी पूजनीय हो जाता है वो तो सबका गुरु है चाहे कोई उसे माने चाहे ना माने वो तो गुरु है गुरुओं का भी गुरु है सत्य का बोध हो गया उसको जिसको ब्रह्म बोध हो गया ब्रह्म सत्य है सत्य का बोध हो गया जिसको सत्य का बोध हो गया वो सतगुरु हो गया गुरु तो बहुत होते हैं संसार में सतगुरु ऐसे कभी कभी कहाँ कहाँ मिलते हैं सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट जन्म जन्मांतर के जो भरम है वो सब दूर हो जाते हैं एक चित्त बोध एक ब्रह्म बोध तो छोरे को पहले तो चित्त बोध था सत्संग सुनते सुनते सूक्ष्म बात समझते समझते चित्त बोध में से ब्रह्म बोध में आ गया तो पक्षी को फंसाने की भी इच्छा नहीं हुई जब हम जाएं तब आए ये इच्छा भी नहीं हुई हम उनके साथ ऐसे बन के उड़े ये इच्छा भी नहीं हम उड़ी रहे हैं कहीं पक्षी बनकर हम उड़ रहे हैं कहीं पशु बनकर विचर रहे हैं कहीं देवता बनकर कहीं दैत्य बनकर कहीं ये देह बनकर और ये देह मिट जाती फिर भी हम अमिट हैं सो हम आनंदो हम ब्रह्मो हम चिदघन स्वरूप हम शिष्य को गुरु ने ध्यान करके देखा होगा कुछ भी शिष्य को जब गुरु के ब्रह्म बोध की बात याद आई तो वो ब्रह्ममय चित्त हो गया चित्त ब्रह्ममय हो गया तो महाराज क्या हुआ वो ब्रह्म सुख ब्राह्म स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश पूर्ण गुरु कृपा बन गुरु भी पूर्ण हो और गुरु की कृपा भी पूर्ण मिल जाए पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान बस वो साधक में से सिद्ध हो गया गुरु के द्वार आया गुरु ने कहा बेटा बोलो क्या चाहिए भगवान चाहिए <laughs> तो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया बोले मुक्ति चाहिए उसके चेहरे पर ब्राह्मी शांति उसके आंखों में ब्रह्म तेज उसके हृदय में ब्रह्म भाव गुरु ने पूछा बेटा क्या चाहिए भगवान चाहिए बोले नहीं मुक्ति चाहिए बोले नहीं सिद्धि सिद्धि चाहिए बोले नहीं क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए बोले कुछ नहीं चाहिए या कुछ चाहिए सब जगत बोध में फंसा था तब था अब ब्रह्म बोध में न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है न पाना है न त्यागना है पायो कहे सो बावरा खोया कहे सो कूर पाया खोया कुछ नहीं तो एक रस भरपूर गुरु प्रसन्न हुए कि आज शिष्य शिष्य नहीं शिष्य सदगुरु बन गया सत्य का बोध हुआ सत्य शिष्य था शिष्य में से सत्य शिष्य बनना होता है सत्य शिष्य में से आज सतगुरु का जन्म हो गया अब तो तू ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न करना नहीं पड़ेगा तुझे वो प्रसन्न मिलेंगे ब्रह्मा विष्णु भी चाहते हैं कि आज जीव ब्रह्म रूप हो गया ब्रह्मबोध से अब तुझे मुक्ति पाना नहीं अथवा बंधन है नहीं तू ब्रह्म बोध से ब्रह्ममय हो गया है ऐसे ब्रह्म बोध से तीन मिनट के लिए भी कोई संपन्न हो जाए तो इंद्र का राज भी कुछ नहीं वो इतना महान हो जाता है स्वर्ग का वैभव भी कुछ नहीं इस जगत का आकर्षण भी कुछ नहीं वो करेगा सब खाएगा पिएगा लेगा देगा सब करेगा उठत बैठत ओई उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने वो जगत के लोगों को जगत जैसा दिखेगा जैसे हम खाते हम पीते हम देते रहते ऐसे ज्ञानी भी दिखेगा लेकिन ज्ञानी की वृत्ति उसमें ब्रह्म में नहीं ऐसा एक सवाल अपने गुरु से शिष्य ने पूछा गुरु जी आप आश्रम में हैं ये है वो है राजा जनक बोलते हैं ज्ञानी है गुरु जी ज्ञान के लिए तो हमको समझ में नहीं आता कैसे ज्ञान बोले अच्छा जाओ जनक राजा के पास मैं चिट्ठी लिख देता हूं जनक की वृत्ति राजकाज करते जगत बोध से संपन्न होते हुए ब्रह्म बोध में कैसे जरा देख के आओ चिट्ठी लिख दी जनक राजा पर जाने माने भजनानंदी संत थे जनक राजा ने उस ब्रह्मचारी को कहा अच्छा तुम तो मेरे को ब्रह्म ज्ञान कैसा हुआ उसका अनुभव करना है मैं अनुभव तो बाद में कराऊंगा पहले दक्षिणा लो दो एक काम करो कल सुबह तुम्हें नगर में जाना होगा पूरा नगर घूमना होगा और मैंने आदेश जारी कर दिए नगर में खूब सजावट होगी अच्छे अच्छे रास्तों से तुझे दो जल्लाद ले चलेंगे तेल का कटोरा देता हूं पूरा नगर तुम घूम के आना तेल का कटोरा में से बूंद गिर गई तो सिर उतार दिया जाएगा अगर तुम ठीक से घूम के आ गए फिर तुम्हें ब्रह्मबोध दे देंगे ब्रह्म ज्ञान की बात सूक्ष्म बात सुना देंगे प्राइवेट बात दिन भर नगर से गुजरा कहीं शहनाया बज रही कहीं तुरिया हैं कहीं जहाज कहीं मंजीरे कहीं नर्तकियां तो कहीं उत्सव तो कहीं बैंड बाजा वैसे ही नगर में सब कोलाहल होता है राजा ने कुछ विशेष भी रख दिए कहीं कहीं पर पूरा दिन वो छोरा घूमा ब्रह्मचारी शाम को आया और जनक ने देखा कि कटोर में से तेल नहीं ढूला छलो छल कटोरा भरा था अच्छा ठीक ब्रह्मचारी अब समय हो गया है समय हो गया भोजन कर लो फिर ज्ञान की बात करेंगे स्नान विरान करके भोजन खंड में पहुंचे रसोया को जो बताया था ऐसी सारी व्यवस्था हो गई परोस दी गई थाली हाथ में जल लिया अब वो ब्रह्मचारी ने एक कोर मुंह में रखा रसो ने कहा तुम खाते हो प्रेम से खाओ लेकिन ऊपर जरा देख लो कैसी तलवार अटक रही है था तो कोई धातु की तार लेकिन लगती ऐसे कि धागा है धागे में तलवार टंगी है बस अभी गिरी अभी गिरी हवा का झोंका आया कि बस गिरी वो खाता जा रहा है लेकिन नजर पूरी की पूरी उस तलवार में टिक गई अलग अलग चीजें हैं थाली में उनके स्वाद में राग नहीं अस्वाद में दोष द्वेष नहीं कहीं नमक ज्यादा था तो कहीं शक्कर ज्यादा थी तो कहीं मिर्च ज्यादा था और कहीं बहुत बढ़िया था कहीं घटिया था ऐसे थाल में व्यंजन थे इधर उधर से खाया लेकिन उन व्यंजनों की खटास मिठास अच्छाई बुराई चित्त पर नहीं रही चित्त पर ज्यादा <laughs> ध्यान उधर का रहा इससे थोड़ी पीड़ा होती है फिर बड़ी पीड़ा आ जाए तो थोड़ी पीड़ा आदमी भूल जाता है और छोटा सुख होता है फिर बड़ा सुख आ जाता है तो छोटा सुख भूल जाता है ऐसी वृत्ति ही वहां चली गई कैसे भी करके पेट भर लिया भूखा था राजा जनक ने भोजन के बाद उसको बिठाया बोले अब देखो ब्रह्मचारी नगर में आज तो बहुत व्यवस्था थी कितनी बरातें देखी तुमने बोले महाराज आवाज तो खूब सुनाई पड़ता था लेकिन बरातें कितनी मुझे पता नहीं क्यों मेरा ध्यान पूरा वहां था अच्छा क्या क्या देखा बोले महाराज क्या देखा क्या सुना बस तेल का कहीं बूंद न ढुल जाए अच्छा वो बूंद धुल न जाए बूंद संभालने में सुख तो नहीं आ रहा था लेकिन जिम्मेदारी महसूस करके तुम देख रहे थे धुला नहीं तेल का तेल की बूंद नहीं धुला ठीक है कटोरा पर ध्यान था इतना सारा नगर तुम्हारे अंदर कितना घुसा बोले महाराज रत्ती भर भी नहीं क्योंकि ध्यान कटोरे में था बोले ऐसे हमारा ध्यान ब्रह्म में होता है इसलिए जगत हमारे में घुसता नहीं अच्छा भोजन के समय तुमने क्या खाया खीर भी बढ़िया बनी थी श्रीखंड भी था फलाना भी था फलाना फलाना बोले महाराज अच्छा भी था कहीं कैसा भी था है बस पेट भर लिया कैसे कर क्यों बोले तलवार अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी तलवार तो वृत्ति तलवाराकार थी कढ़ीकार वृत्ति नहीं बनी वृत्ति तलवाराकार थी सीराकार वृत्ति नहीं बनी मुंह में डाला सीरा है कि <laughs> बेसन की कड़ी है कि क्या है काम कर लिया अगर कभी बनी तो गौण वृत्ति से खाया पिया मुख्य वृत्ति वहां लगी रही वे ऐसे ही ब्रह्मवेता महापुरुष को मुख्य वृत्ति ब्रह्म परमात्मा में होती है और गौण वृत्ति से व्यवहार करते हैं कभी कभार दोनों वृत्ति से भी व्यवहार करते हैं लेकिन व्यवहार हुआ पूरा फटाक से वृत्ति वहां पहुंच जाती जैसे आम के डाल से आपको आम तोड़ना है तो आपने हाथ लंबा किया डाल को झुकाया आम तोड़ दिया अब हरी डाल है आपने उस डाल से आम लिया या पत्ते वत्ते जो कुछ पहने लेना लिया फिर डाल को छोड़ दिया तो ऊपर चले जाएगी अच्छा किसी ठूठा को आपने थाम रखा है तो ऊपर है छोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा अगर ठूठा लग जाता है जमीन पकड़ लेता है और पेड़ होता है तो फिर उसकी डाल को आप खींच के उतारेंगे तो उतरे छोड़ा तो चढ़ जाएगी अगर उसने जमीन नहीं पकड़ी ठूठा ने वो हरा भरा नहीं हुआ है तो उसको आप थाम थाम रखेंगे तो थमेगा छोड़ दिया तो गिरेगा ऐसे जिसने केवल जगत की वृत्ति बनाई उसको भगवान के तरफ वृत्ति थामनी पड़ती है ऊपर रखनी पड़ती जब भजन ध्यान छोड़ दिया तो वृत्ति फिर नीचे आ जाएगी और जिसने ब्रह्म अभ्यास करके वृत्ति की सिंचाई कर दी अपने चित्त की हरा भरा हो गया ब्रह्म ज्ञान से उसका चित्त फिर उसके ब्रह्म वृत्ति को ले आओ संसार में व्यवहार करा छोड़ दिया तो वहीं पहुंच गए उठत बैठत वही उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने उसी ब्रह्म ठिकाने तो एक जगत बोध होता है दूसरा ब्रह्म बोध होता है स्वर्ग का ज्ञान सचखंड का ज्ञान अतल वितल का ज्ञान रसातल पातल का ज्ञान अष्ट सिद्धियों का सामर्थ्य भी जगत बोध के अंतर्गत है अष्ट सिद्धियां भी मानसिक जगत तक ही है ये सारे हमने पापड़ वेले और बहुत सारा अभ्यास भी किया जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता है तब तक एक एक ऐसा भी हमारा समय था इससे 25 साल पहले 28 साल पहले कि साधन करते थे और फिर सुबह सुबह घूमने जाते थे तो शरीर उड़ रहा है ऐसा भास होता हमको उस उस दिशा में जाना नहीं था हमने वो साधना तो छोड़ दी उंटड़िया महादेव वहां रुके थे लोक संपर्क नहीं था अनजाने होके रहते थे थोड़े दिन साधना से अमुक अमुक अनुभव होते थे लेकिन वह भी है तो जगत के अंदर अब हम शरीर से सिद्धि के बल से उड़े चाहे पक्षी जन्मजात उड़ता है क्या फर्क पड़ा हम साधना करके उड़ जाए तो पक्षी तो जन्मजात उड़ सकता है तो साधन भजन करके पक्षी जैसी योग्यता पा लिया तो क्या हो गया हम घंटों भर पानी में रह सके तो मेढक आदि और जलचर रहते ही हैं तो ये जो सिद्धियां हैं कभी बड़ा शरीर कभी छोटा शरीर मिलता है आदमी को ऐसी सिद्धियों के बल से आदमी बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए हनुमान के पास थी अणिमा गरिमा लघिमा परिमा पराकाष्ठ आदि सिद्धियां थी ऐसे हनुमान जी भी श्री राम के चरणों में गए और राम जी की सेवा की और राम जी ने हनुमान जी को ब्रह्म बोध दिया तो सभा में मोतियों की माला मिली तो हनुमान जी ने देखा इन मोतियों में आत्मरस तो नहीं ब्रह्म सुख तो नहीं राम रस तो नहीं तो मोतियों को फेंकने लगे हनुमान जी तो वहां के जो जोहरी थे जोहरी ने कहा कि बंदर को तो जमरूक देना चाहिए बंदर क्या जाने सच्चे मोती लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे राम जी पहचान गए कि हनुमान जी को जगत की कोई वस्तु प्रसन्नता नहीं दे सकती हीरे मोती जवाहरात से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते मणियों की माला से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते तो आत्ममणि का उपदेश ही हनुमान जी के अधिकार में है तो राम जी ने हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और ये उपदेश सुनते ही हनुमान जी की वृत्ति ब्रह्मबोध में हो गई राम जी ने पूछा कि हनुमान जी बताओ अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूं राम जी बोलते हैं हनुमान जी तुम बताओ अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूं स्वामी अब मैं सेवक हूं सृष्टि दृष्टया तुम ईश्वर हो मैं जीव हूं तत्व दृष्टया सोहम जो आप है वो मैं हूं राम जी हनुमान जी को आलिंगन करते हैं कि राम जी कहते हैं कि हनुमान जी अब तो नाम तो मेरा लेंगे लोग लेकिन जय तुम्हारी होगी राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की क्योंकि तुम्हारे पास तो सेवा का भी धन है और ब्रह्म धन ब्रह्मबोध का भी धन है मेरे मंदिर में तो लोग दर्शन करने को आएंगे लेकिन तुम्हारी हाजिरी जरूरी रहेगी और तुम्हारे मंदिर में तुम तुम स्वतंत्र रहोगे तो धरती पर जितने भी राम मंदिर होंगे विधिवत वहां हनुमान जी जरूर पाओगे और हनुमान जी ही के स्वतंत्र भी तो स्वामी से भी अगर गिना जाए तो सेवक की मूर्तियां ज्यादा है जयराम जी की एक तो सेवा का प्रभाव है और दूसरा स्वामी को जो मिला है वही सेवा को मिला है ब्रह्मबोध और जगत बोध जगत बोध में तीन प्रकार होते हैं सात्विक राजस और तामस बुद्धि के अनुसार जगत को ऐसे ही देखेगा और सोचेगा और ब्रह्मबोध में ब्रह्मबोध में एक ही ब्रह्म परमात्मा को पाने का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ध्यान ब्रह्म चिंतन ब्राह्मी स्थिति एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है न तस्य कार्य विद्यते उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं लोगों का उद्धार करना कर्तव्य नहीं उसका स्वनिर्मित विनोद है साधक का कर्तव्य है साधना गृहस्थी का कर्तव्य गृहस्थी गाड़ा चलाना गृहस्थी अपने को साधक भी मानता है तो साधना करना चाहिए लेकिन ज्ञानी अपने को ब्रह्म मानता है ब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं बोले संत महात्माओं का ये कर्तव्य है संत महात्मा का वो कर्तव्य है उनको पता ही नहीं संतत्व का सारे कर्तव्यों से पार जो पहुंचा है उसी के तो वासनाओं का अंत हो गया है जिसके वासनाओं का अंत हो गया उसके कर्तव्यों का अंत हो गया वह अनंत से जुड़ गया फिर भी ऐसे पुरुष संसार में कुछ करते हुए दिखते हैं तो ये उनका स्वनिर्मित विनोद है और ऐसे स्वनिर्मित विनोद वाले ब्रह्मवेताओं के द्वारा ही जगत का स्थायी मंगल हुआ है वास्तविक मंगल हुआ बाकी तो ऐहिक वस्तु कोई किसी को दिला दे ऐहिक सुविधाएं दे दे ऐसे तो कई सात्विक कार्यकर्ता होंगे लेकिन वास्तविक चीज तो उन्हीं वास्तविक तत्वों को पाए हुए महापुरुषों के द्वारा ही समाज में बटी है वास्तविक चीज तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य सुख व्यक्ति को सुख सुविधाएं ऐहिक वस्तु देना उसकी अपेक्षा उसको ऐहिक वस्तु के बिना भी परम सुख देना वो बहुत ऊंची चीज है एक छोटी कहानी किसी जेल में धर्मात्मा सेठ गया कैदी लोग बेचारे रूखी सुखी रोटी खाते दया आ गई सबको मेवा मिठाई मंगा के खूब जिमाया कैदी बड़े खुश हुए दूसरे सेठ को पता चला कि अपने भी कुछ नाम करो वह सेठ गर्मियों के दिन में गया देखा कि कैदियों को पानी ठंडा नहीं मिलता और खारा पानी रखा शक्कर मंगवाए बर्फ मंगवाए शरबत पिलाया दिन भर खूब पियो कैदी बड़े खुश हुए तीसरा सेठ जाड़ों में गया ठंडी में किसी को स्वेटर दिया तो किसी को मोजे दिए तो किसी को कंबल दिया तो किसी को चादर दिया तो किसी को कुछ कैदी बड़े खुश हुए एक ने भोजन कराया दूसरे ने शरबत पिलाया तीसरे ने गर्म कपड़े दिए चौथा एक महापुरुष भी चला गया किसी दिन जेल में और उसने कहा कि लो ये का चाबी और वो है ताले घुमाओ और अपना अपना घर पहुंच जाओ सम्राट को सम्राट का गुरु रहा होगा कुछ रहा होगा सम्राट को इस बात पे राजी कर लिया उस महापुरुष ने और कुछ नहीं दिया न भोजन कराया न कपड़े दिए न शरबत पिला केवल चाप भी दिखा दी अब उन तीन दाताओं की अपेक्षा चौथा दाता सर्वोपरि माना जाएगा क्योंकि ताले खोल दिए जेल में बैठकर शरबत पीने की अपेक्षा स्वतंत्र घर जाना स्वतंत्र हो जाना बहुत ऊंचा है ऐसे इस देह रूपी और संसार रूपी जेल में बैठकर चाहे स्वर्ग का सुख भोगना यहाँ यहाँ का सुख भोगना उसकी अपेक्षा ब्रह्मबोध हो जाना और ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना अनंत गुना ऊंचा होता है तो एक ब्रह्मबोध होता है दूसरा जगत बोध होता है चित्त की दो धारा होती तो ब्रह्मबोध के तरफ जिसकी धारा चलती है तो पहले उसको दो आवरण समझाए जाते हैं अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण अस्त्वापादक आवरण ईश्वर है कि नहीं नहीं है पता नहीं कैसा है कोई बोलेगा साकार है कोई निराकार कोई कैसा है पता ही नहीं लेकिन जिसने वेदांत सुना है सतगुरु के चरणों में पहुंचा है वो समझता कि ईश्वर है वो आत्मा है और अभी है यहाँ है मेरे पास मेरे साथ है ये वो महसूस करेगा फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है अनुभव नहीं हो रहा ये अभाना पादक आवरण है तो अस्तवा पादक आवरण वेदांत शास्त्र के उपदेश से दूर हो जाता है और अभाना पादक आवरण सदगुरुओं के सानिध्य से ब्रह्म अभ्यास करने से अभाना पादक आवरण हट जाता है और साधक सिद्ध बन जाता है सिद्ध भी दो प्रकार के होते हैं है कि योग की सिद्धियों से सिद्ध पुरुष होते हैं योग की सिद्धियों से तो फिर कई तांत्रिक सिद्धियों से हुई तो कोई मानसिक शक्तियों से वो नहीं उत्तम सिद्धों की बात है तो एक योग की सिद्धियों से सिद्ध होते हैं अष्ट सिद्धि वाले जैसे हनुमान जी थे व्यास जी थे दूसरा होता है तत्व ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान की सिद्धि साक्षात्कार की सिद्धि ये सबसे ऊंची है साक्षात्कार की सिद्धि हो गई उसके पास योग सिद्धि हो चाहे ना हो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता लेकिन योग सिद्धि वाले को साक्षात्कार की सिद्धि नहीं है तो अधूरा है योग सिद्धि वाले को ब्रह्मबोध नहीं है तो वह अधूरा है चांगदेव के पास योग सिद्धियां थी मौत आए उसके पहले वो अपना प्राण चढ़ा देते शास्त्र सार में दस दिन की समाधि करते मौत का समय गुजर जाता फिर अपना सौ वर्ष आयुष्य बना लेते चौदह बार मौत को ठाल दिया ठेल दिया लेकिन तत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं थी बाईस वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज और चौदह सौ वर्ष के चांगदेव महाराज चौदह सौ वर्ष का चेला है और बाईस वर्ष का ज्ञानेश्वर गुरु बने ज्ञानेश्वर की कृपा से फिर चांगदेव को आत्म साक्षात्कार हुआ तो ये बोध ऊंचे में ऊंची सिद्धि है परागति पराकाष्ठा ऐसा बोध जिस महापुरुषों को हो गया अभी आया था ना थोड़े दिन पहले भक्ति अंक में काशी में ऐसा महापुरुष था बिल्ली मर गई थी उसको उठा के गंगा में प्रवाह कर तो बिल्ली का जीवात्मा देवदेही में बदल गया वो कहने लगे कि महाराज में तो बिल्ली चूहों के पीछे पड़ने वाले और अभी मैं आपकी कृपा से स्वर्ग जा रही हूँ मुझे देव देही मिल गई नहीं तो न जाने कितने लाख जन्म लेती तब कहीं वहां पहुंचती मनुष्य जन्म होकर पुण्य करके तब स्वर्ग में पहुंचती लेकिन आप जैसे ब्रह्म बोध से जो महापुरुष संपन्न होते हैं ऐसे पुरुष अगर मरी हुई बिल्ली की भी अंत्येष्टि कर देते हैं तो उसको इतना फायदा हो जाता ऐसे ब्रह्मबोध से संपन्न महापुरुष मुर्दे किसी मृतक आदमी को जला दिया जाता हो शमशान में ऐसे मृतक के मुर्दे को भी देख मुर्दे के धुएं को देख ले तो उस मुर्दे को भी दुर्गति से हटाकर सदगति की ओर प्रकृति भेज देती है ऐसा ब्रह्मबोध का महिमा होता है और ऐसे पुरुष हम लोगों के ना ही जीते हैं आश्चर्य है हमसे भी ज्यादा गरीबी में भी जी लेते और फिर भी पूरे सम्राट होते जैसे जड़ भरत सुखदेव जी महाराज अभी कुछ वर्ष पहले भावनगर में चित्रासनी इलाके में मस्तराम बाबा जी थे उनके पहले एक दूसरे संत हो गए भावनगर के राजा तखत सिंह हो गए वो जाते थे उनके दर्शन करने को तो बोलते साले तख्ता बीत जाएगा बख्ता कर ले कुछ नहीं तो हो चला जाएगा वक्ता तखत बखत मैंने ऐसी बात सुनी और तखत सिंह ने फिर तख्तेश्वर महादेव बनाया अभी भावनगर में हम देख के भी आए और भी कुछ सत प्रवृत्ति की तो अब उस महात्मा के बाद और कोई महात्मा आए होंगे एक महात्मा तो हमने भी देखा चित्रासन में ऐसे बड़े बिल्कुल उनको देखकर अपने को दया है कि क्या स्थिति लेकिन उनके अंदर की बड़ी ऊंची पहुंचे तो ऐसे महात्मा पागल का वेश बना के भी रह सकते सम्राट होकर राज्य भी कर सकते जिनको ब्रह्म बोध हुआ ललनाओं के नृत्य हास्य विलास में भी समय बिता सकते और हिमालय में समाधि भी कर सकते आचार्य होकर उपदेश भी दे सकते और गृहस्थी होकर गृहस्थी का गाढ़ा भी घसीट सकते ऐसे एक संत हो गए संत टोपणदास उनको पुत्र था पौत्र था घर में रहते हो सुबह मार्केट में सब्जी ले आते अरे भाई थोड़ा धनिया तो देते सब्जी लिया तो धनिया तो फ्री देते ऐसा भी कर लेते थे और थे समझे ब्रह्म बोध से संपन्न शाम को थोड़ा बहुत सत्संग करते थे उनके घर के प्रांगण में अड़ोस पड़ोस के लोग सत्संग से तो पहचान गए कि काका टोपनदास एक टोपनदास दूसरे थे जो बहू से हैं दीक्षा मांगते थे ये वो टोपन दास नहीं ये वो सेठ टोपन दास ये काका टोपन दास की बात बताता हूं तो उस टोपन दास का सत्संग सुन के उनके सत्संग ही समझते थे कि संसार सपना है जो आया है सो जाएगा मर जाएगा कोई किसी का नहीं बाबा रोज बताते थे एक दिन वो टोप काका टोपन दास का पोता मर गया हर काका टोपन्नास ने ऐसा छाती कुटाई हो बस उनकी बहू और उनका बेटा उनको चुप कराने में लग गए सत्संग ये आश्चर्य में कि हम समझते थे कि ज्ञानी है बड़े संत है लेकिन अभी पता चला कि पोता मर गया तो आप मरने को तैयार हो गए ये मुझे हमें खिड़ा मिठड़ी मिठड़ी बोलियो बोलण वारा मुंहिंजा पोटड़ा मां मरी वञा हूं मरी जाऊं अपने मरने को तैयार हूं फिर बहु समझाती बेटा समझाता ये बात एक एक दो दिन बीता सत्संग फिर चालू हुआ तो श्रोताओं ने जो सत्संगी थे उन्होंने कहा कि आपका पोता आप तो रोज हमको उपदेश देते कि आपका पोता मर गया और आप स्वयं मरने को तैयार हो गए ये बात समझ में नहीं आई तो पंडास ने बोला ये बात यहां मत पूछो कल बगीचे में सत्संग करेंगे उधर बताऊंगा हाँ। बगीचे में सत्संग हुआ बोले पोता मर गया हम घर में रहते चार आदमी लड़कियों की तो मेरी शादी हो गई एक लड़का है उसकी बहू है और कई वर्षों के बाद उसको पुत्र हुआ और दो तीन साल का उसका पुत्र मर गया तो वो बहू कितनी रोएगी क्योंकि उनको तो जगत बोध है जगत में सत्य बुद्धि है शरीर में हूं और ये मेरा बेटा है उनको तो ब्रह्म बोध नहीं है तो मेरा बेटा उसकी पत्नी दोनों रो रहे थे अगर मैं उनको चुप कराने जाता तो बड़ी गड़बड़ होती बहुत देर लगती और वो सोचते कि आ डोहाने हूं छे तैयार भाणे हम દીકરો तो हमारो गयो छे ना बेटा तो हमारा मरा इस बुढ़े को क्या वो समझ नहीं वो रोते थे ना समझी से और मैंने सोचा कि अब उनको ना समझी से रो रहे हैं तो मैं अपनी समझदारी क्यों छाटूं मैं समझदारी का सदुपयोग करूं मैं समझ कर रोया मैं समझ कर रोया तो मुझे रोने का दुख नहीं था रोने का ऐसा अभिनव किया कि वो तुरंत चुप होकर मुझे चुप कराने लग गए घर में चुप लानी थी तो इस टेक्निक से मैं चुप लाया कि आराम से उनको मेरे प्रति अभाव भी न हो और रो रो कर अपनी खोपड़ी खराब न करो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए <laughs> समझ के रो लिया तो इसमें मेरा ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा क्या जय राम जी की राम जी रो रहे हैं सीते सीते हाय सीते भाई लक्ष्मण लक्ष्मण भैया लक्ष्मण लेकिन राम जी समझ रहे हैं अंदर से कि सब जगत का शिष्टाचार का चित्त का व्यवहार है राम जी क्या है राम जी जानते टक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए खोजते खोजते सुख को शाश्वत जीवन को हमारे आनंद को खोजते खोजते युग बीत गए भाव को ऐसा नजीक है तो वशिष्ठ कहते हैं राम जी एक चित्त बोध होता है एक जगत बोध होता है और साधक को अभाना पादक आवरण हटाना होता है और संसार को संसारी को अस्त्वापादक आवरण और अभाना पादक आवरण अस्त्वापादक आवरण संसारी को होता है और अभाना पादक आवरण जिज्ञासु होता है तो संसारी को तो दोनों आवरण होते जिज्ञासु को एक ही आवरण होता है जिज्ञासु मानता तो है भगवान को और अपना आत्म रूप से मानता है केवल अभान अभान है भान नहीं हो रहा तो भान होने के लिए उसे ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए चित्त जगत अभ्यास करता है ना उसकी जगह ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए जैसे उस लड़के ने सारस सारसी देखा पहले दो जगत अभ्यास था अब अंत में ब्रह्म अभ्यास होते ही उसके चित्त में ब्रह्म सुख प्रकट हो गया ब्रह्म ज्ञान ऐसे साधक को सावधान होकर ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए चलते फिरते खाते लेते देते बार बार ब्रह्म अभ्यास करने से जगत का आकर्षण और पाप ताप छोड़कर वो ब्रह्ममय हो जाता है तरकटी नाम की राक्षसी थी उसे भोजन करने से तृप्ति नहीं होती थी तपस्या तो करके ऐसा वरदान पाऊं कि लोगों के नासापुट से घुस जाऊं और उनके हृदय का शुद्ध खून पिया करूं तपस्या तो करके वरदान पाया खून पीते बाद में सूक्ष्म थी और खून पीती मोटी हो जाती हवा के झोंके से गिर पड़ते सोचा कि खूब मोटी हो जाऊं मोटी हो जाने पे जैसे मोटापा दुख देता है ऐसे दुखी हो गई फिर गीद को प्रेरित करके हिमालय में चली गई गीद के अंदर घुस गई गीद को प्रेरित करके हिमालय चली गई और गीद के अंदर से गड़बड़ करके वमन करा दिया और वो बाहर निकली वहां उसने तप चालू किया ऐसा ध्यान किया उस कर्कटी राक्षसी ने इतना ध्यान किया इतना तप किया कि उसको शरीर की सुधि नहीं रही उसके कषाय परिपक्व हो गए हृदय शुद्ध हो गया समाधि लग गई जो इरादे से आदमी भजन करने बैठता है वो इरादा देर सबेर पूरा होता है अगर भजन सही है तो संकल्प दृढ़ होता है भगवान ब्रह्मा जी आए और पुत्री वरदान मांग ले उस राक्षस ने कहा वरदान मांगने के लिए तप किया था लेकिन अब जो शांति मिली है जो आत्मा में परमात्मा में जो विश्रांति मिली अब तो कोई इच्छा नहीं रुचि नहीं फिर भी जैसे ध्रुव अटल पदवी के लिए बैठा था भजन करने तो अटल पदवी मिली और ज्ञान भी मिला ऐसे ही करकटे को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो पातकी लोग हैं प्रजा को सताते हैं उन्हीं का भोजन करना पापियों का नाश होना ठीक है क्योंकि वो पाप से बचेंगे और गुणवान को कभी ना खाना अपने भोजन में करकटी वरदान लेकर विचरण करती करती श्रीनगर के जंगल में घूम रहे थे और नगर का राजा उसका मंत्री रात्रि को वीर यात्रा पे निकले थे करकटी ने विराट रूप धारण करके खतरनाक भयानक रूप धारण करके कि इस समय आप दोनों मेरे लिए भोजन आए हो मैं तुमको खा जाऊंगी निशाचर लोग पहले डराते और बाद में अटैक करते हैं और कायर लोग छुप के अटैक करते हैं वीर लोग आमने सामने तिथि तारीख नक्की करके फिर युद्ध करते तो ये कायर नहीं थी इन कर्कटी राक्षसी थी इसके लिए दो राजा राजा और मंत्री को खा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी जैसे बिल्ली के लिए चूहे कठिन है भागते दौड़ते चूहे थोड़े कठिन भी हैं इसके लिए वो राजा और मंत्री इतने कठिन नहीं थे फिर भी समाधि करके इसका हृदय स्वच्छ हुआ था आहार तो इसका मांस था शिकार आहार था राक्षसी का वे जानती थी कि गुणवान की सेवा करनी चाहिए और दुष्टों को ही आहार में लेना चाहिए अगर ये अज्ञानी है तो इनको भोजन करना हितकारी हो जाएगा मूर्ख है अज्ञानी है दुर्गुणी है तो अगर गुणवान है ज्ञानवान है तो इनका पूजन और संग सत्संग करना हितकारी होगा करकटी को ध्यान समाधि खूब लगी इसलिए उसकी प्रज्ञा उसकी बुद्धि बहुत ऊंचाई पर पहुंची थी करकटी ने पूछा कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म वस्तु है जो इंद्रियां मन से पार है ऐसी कौन सी चीज है जो सारे ब्रह्मांडों को व्याप रही है और छोटे से छोटे वस्तु में है ऐसा कौन सा चिदाणु है जो सूर्य को प्रकाशित करता है चंद्रमा को प्रकाशित करता है ऐसा कौन सा चिदाणु है जो सुख में और दुख में एक रहता है ऐसा कौन सा चिदाणु है कि जो अंधकार को और प्रकाश को भी प्रकाशित करता है अंधकार है फिर भी वो देखता है कि अंधकार है और प्रकाश है उसको भी देखता है अस्थि को भी देखता है और नास्ति को भी देखता है ऐसा कौन सा चिदाणु है हे और उपाधेय से रहित मति को भी देखता है और हे उपाधेय सहित वाली मति को भी देखता है ऐसा कौन सा चिदणु है कि जिसको पाए बिना सम्राट भी कंगाल रह जाते हैं और जिसको पाने से कंगाल भी सम्राटों से पूजे जाते हैं ऐसा कौन सा चिद अणु है ऐसा कौन सा चिदणु है कि जिसको पाने के बिना सब कुछ करा कराया व्यर्थ है और जिसको पाने से लगता है कि मैंने कुछ पाया ही नहीं ऐसा कौन सा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है चिद अणु है जिससे आधी व्याधि उपाधि प्रकाशित होती है लेकिन आधी व्याधि उपाधि उसे चौंकती नहीं ऐसा कौन सचिद अणु है जो रोम रोम में रम रहा है रामानंदी उसे राम कहते हैं शैव उसे शिव कहते हैं वैष्णव उसे विष्णु कहते हैं खुदावासी उसे खुदा कहते हैं देवी देवी को मानने वाले उसे देव कहते हैं ऐसा कौन सचिदणु है कि तुम्हारे हमारे सब के हृदय में है और तुम्हारे हमारे न होने पर भी वो है ऐसा कौन सचिदणु है इस प्रकार भिन्न भिन्न ढंग से उसी परमात्मा के विषय में करकटी ने प्रश्न पूछा है जो लोग मन माना भजन करना चाहते हैं अथवा मन माना किसी रिधम में चलते रहते हैं उसको एक जन्म तो क्या कई जन्म भी कम पड़ेंगे ईश्वर प्राप्ति में जो शास्त्र अनुकूल और आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के ज्ञान के अनुकूल साधन करेगा उसके लिए तो कुछ ही समय बहुत हो जाता है जैसे सुखदेव जी के लिए इक्कीस दिन बहुत हो गए परीक्षत के लिए सात दिन बहुत हो गए महावीर के लिए बारह वर्ष बहुत हो गए बुद्ध के लिए सात वर्ष बहुत हो गए किसी के लिए चालीस दिन बहुत हो जाते हैं अगर सतगुरु मिले और अपना संयम सदाचार तत्परता हो ऐसी सूक्ष्म बात विचारने की हो लगन हो उस वीर यात्रा को निकले हुए राजा और मंत्री ने करकटी के सारे प्रश्न सुने राजा कहते हैं कि हे करकटी तुमने एक ही उस परमात्मा के बारे में पूछा है जो इंद्रियां मन से परे है सूक्ष्म तम है सूक्ष्म चीज को तो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है लेकिन वो परमात्मा देखा नहीं जाता देखा नहीं जाता फिर भी है तो सही वो पांच कोशों में छुपता नहीं पांच कोशों में है फिर भी छुपता नहीं जैसे कपूर छुपता नहीं उसकी सुवास ऐसे उस परमात्मा की चेतना देखने की सुनने की बोलने की योग्यता जो है फूलों में गंध नहीं छुपती ऐसे हृदय में वो भगवान है तो सही तो छुपता नहीं हृदय की धड़कनों से साबित होता कि है चैतन्य मन बुद्धि के इतने सुंदर आविष्कार हवाई जहाज बनाने की सत्ता उसी ज्ञान स्वरूप से आई माता में पालन करने की शक्ति उसी परमात्मा से आई पिता में अनुशासन करने की शक्ति उसी परमात्मा से आई कवि की कविता उसी से आई विज्ञानी का विज्ञान उसी से सफल होता है वह चिदणु क्यों है कि सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है बैक्टीरिया में भी उसकी चेतना है इसलिए चिद अणु बोला चिद मन वो चेतन है और अणु अणु जरा से तो जो छोटे से छोटा है वो बड़े से बड़ा है जितना छोटी चीज उतनी ही वो बड़ी चीज बोले स्वामी जी ये समझ में नहीं आया देखो हवा एकदम छोटी है सूक्ष्म है तो कितनी व्यापक है हवा से भी ज्यादा आकाश सूक्ष्म है और ज्यादा व्यापक है तो आकाश से भी ज्यादा वर्चित अणु परमात्मा है इसलिए हमारे शरीर में व्यापा है सबके शरीर में व्यापा है ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में भी वही परमात्मा व्यापा है जैसे बिलोरी काच रखने से विशेष सूर्य का प्रकाश और दाहकता का अनुभव होता है ऐसे जो ध्यान समाधि करते हैं उसमें उस परमात्मा की विशेष सत्ता स्फूर्ति त्रिकालज्ञता आदि प्रकट होती है और जो सामान्य जीते उनमें सामान्य चिदणु चैतन्य की सत्ता तो होती ही है तो इस प्रकार करकटी राक्षसी से प्रश्न सुनकर राजा कहता है कि तुम उसी परमेश्वर के बारे में पूछ रहे हो जो प्राणी मात्र का आधार है जो सबकी धड़कने चलाने की सत्ता देता है जैसे सारी वनस्पति का आधार है सूर्य के किरण और जल अच्छे पेड़ पौधे हों चाहे खराब हों अच्छे फूल खिले हों चाहे मंदे फूल खिले हों लेकिन सत्ता तो सूर्य की सारे पौधे सूर्य से जुड़े हैं सारे वृक्ष सूर्य से जुड़े हैं सारे मनुष्य और जीव सूर्य से जुड़े हैं सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोल नहीं सकते कि सूर्य ठंडा हो गया अपना कुछ मैनेजमेंट कर लो विज्ञानी भी उसी समय सफा हो जाएंगे ऐसा हम लोग सूर्य से जुड़े हैं तो सूर्य इतना दूर होते हुए भी हमारा शरीर सूर्य से जुड़ा है हमारा टेम्परेचर सूर्य से जुड़ा है अगर सूर्य ठंडा हो जाए टेम्परेचर डाउन हो जाएगा हम मर जाएंगे हम तो तो शरीर को जो अमुक टेम्परेचर चाहिए अमुक धड़कने चाहिए सूर्य के किरणों से शरीर जुड़ा है ऐसे सूर्य भी उस परमात्मा से जुड़ा है और तुम्हारा देह भी उस परमात्मा से जुड़ा है जैसे मिट्टी का घड़ा चाहे किसी कुम्हार का हो किसी घर में हो लेकिन वे आकाश से जुड़े हैं ऐसे किसी भी जाति अथवा वर्ग या उम्र का व्यक्ति वो परमात्मा से जुड़ा है दुष्चरित्रों के कारण वो उसको परमात्मा पाने की तड़फ नहीं आती संसार को पाने की इच्छा बढ़ने से बेकारी सुख पाने की इच्छा बढ़ने से दुष्चरित्रवान हो जाता है और ईश्वर को पाने की इच्छा से सच्चरित्रवान होता है और सत्य में उसकी स्थिति होती है जितना संसार की तुच्छ चीजें चाहेगा उतनी मति स्थूल हो जाएगी और छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी होकर मर जाएगा और जितना परमात्मा को प्यार करेगा उतना ही मति सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होकर वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा उसी परमेश्वर के बारे में पूछा तुमने वही परमात्मा चितणु ज्योतियों की ज्योति है तम को भी प्रकाशता है और प्रकाश को भी प्रकाशता है कुछ नहीं है कुछ नहीं है को भी प्रकाशता है कुछ नहीं है तो कहने वाला तो है पिता ले गया मेहमानों को अपना बड़ा महल दिखाने के लिए ये पूजा रूम है ये ड्राइंग रूम है ये ध्यान रूम है ये रसोई रूम है ये फलाना है ये फलाना है ये बड़े छोकरे का ये छोटे छोकरे का ये मजले का है ये है बहुत सारे कमरे अपनी बिल्डिंग के दिखाए मेहमानों सहित पुत्र सहित बेटा को लेते हुए सेठ जी नीचे उतरे बोले इतने सारे मेहमान है देखो कोई रह तो नहीं गया बेटा बेटा सब कमरों में झांक कर ऊपर से आवाज मारता कि पिताजी यहाँ कोई नहीं पिताजी मेन गेट को ताला मार रहे बोले क्या करते हो तुमने पिता बोलता है तुमने बोला कोई नहीं बोले कोई नहीं है कहने वाला मैं तो हूँ ऐसे ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नेति नेति नेति नेति कहने के बाद भी कोई तो है जो कोई है उस वही चैतन्य परमात्मा है जहाँ कुछ भी नहीं फिर भी है परलय हो जाती कुछ नहीं रहता फिर भी कुछ तो है अगर परलय में कोई नहीं रहता तो कौन बताता कि परलय हो जाता है परलय में कुछ नहीं रहता कुछ नहीं रहता उसको देखने वाला तो रहता गहरी रात को भी कुछ नहीं रहता कुछ नहीं रहता तो सुबह अनुभव करते हो कुछ नहीं रहता आनंद से सो जाता तो आनंद वो चिद अणु चैतन्य राम का है ये बात बहुत सूक्ष्म है साधारण व्यक्ति को तो ये सुनना भी भाग्य में नहीं होता और कोई पुण्यात्मा सुनता है तो समझ में नहीं आता और कोई समझता है तो टिक जाया नहीं की रुचि नहीं इतना सूक्ष्म और पावरफुल है टिक जाए इस बात में तो कल्याण हो जाए बेड़ा पार हो जाए स्वयं भगवतमय हो जाए ये ऐसी बात है कथा आगे चलती है उस राजा ने करकटी को उसके सब सवालों का जवाब दिया करकटी ने जाना कि ज्ञानवान है आत्मवेता है परमात्मा को पाया हुआ बुद्ध पुरुष है इसने अपने सौल को अपने आत्मा परमात्मा को जाना है जीवन मुक्त राजा है राजन फिर तो मैं आपके संपर्क में रहूंगी सत्संग करूंगी राजन ने कहा तेरा आहार अगर मांस बख्शी और मनुष्यों को भक्षण करती तो जिन पापियों को हम फांसी लगाने वाले उनको तू ले जाके भोजन कर लिया कर तो तेरे काम आएंगे उनका भी कल्याण होगा जेल का भी खर्चा बंद हो जाएगा तेरा भी गुजारा हो जाए वशिष्ठ कहते राम जी करकटी राक्षसी उस राजा के हैं जो बंदी थे उनको ले जाती जैसे बिल्ली चूहों को उठा के ले जाए ऐसे ही पापियों को उठा के ले जाती और जंगल में भक्षण करती तृप्त होती